और जब कभी ये लोग तुम्हारे पास कोई अनोखी बात लेकर आते हैं हम तुम्हें उसका ठीक-ठीक जवाब और ज्यादा वजाहत के साथ अता कर देते हैं